गुरु भरत पर देखे राम विषेखे भरत भरतहि धरब धुरन्धर मानस मानसबाणि बोले गुरु आ यशयन् वचन मञ्जो मृदु मङ्गलमोला नाथ सपथ पेतु चरण दुहाये भयवुन भुवन भरत समभा भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं जय पदयम बुजय अनुरागे ते लोक बे दहु बड़ भागे रावुर जा पर असय अनुरागो को कह सकए भरत कर भागो लखि लघु बंधु बुद्ध सकुचाए करत बदन पर भरत बड़ाए धरतु कहीं सोए किए भलाए अस कहि रहे अर जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि जाती है फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजुतात कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात तब मुनि भरित जी से बोले हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो सुनि मुनि बचन राम रूख पाए गुरु साहेब अनु कुल लखिया अपने सिर सबुरु भारु कही न स कछु करहे विचारु पुल के शरीर सभाे निरजनयन नेहजले कहब मोर मुने नाथ निबाहा रहिते अधिक कहो मैं का मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते वे विचार करने लगे शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए कमल के समान नेत्रों में प्रेमाशुओं की बाढ़ आ गई वे बोले मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया इससे अधिक मैं क्या कहूँ मैं जान निज नाथ सुभा अपराध हो पर मोहन का मो पर कृपा सने हो खे खेलत खूनी सन हो देखी शिशुपन ते परी हरे ऊन संगो कबहुन के मन भंगो मैं प्रभु कृपाए प्रीत जी जो हारे हु खेल जिता मोही अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा अनुभव किया है मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं महुसने हस कोच बस मुख कही न बैन दर्शन त्रिपितन आज लगे प्रेम पिया नैन मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए